दादा पिछले कई सालों से लोक वाद्यों पर कार्य कर रहे हैं राजस्थान के लोक तंतु वाद्यों के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से इन वाद्यों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए पहले तो मुख्य विभाजन हो गए हैं तो ऐसा है कि किसी भी विभाजन का एक कोई वैज्ञानिक आधार आपको लेना पड़ता है कोई भी विभाजन करो तो इंस्ट्रूमेंट इनर्ट जब है जब बज नहीं रहा पड़ा कहीं पर तो वो कुछ भी साउंड नहीं दे रहा और जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो साउंड देता है सो तो so, साउंड वो किस तरह से उत्पन्न करता है उसके आधार पर उसका विभाजन करना होता है होता है तो वाद्य को तीन तरीके से आघातित आप कर सकते हैं या तो नक्खी से मिजराब से आघात कर रहे हैं या आप गज से आघात कर रहे हैं और या इस उंगली से आघात कर रहे हैं तो ये तीन तो प्रमुख चीजें हो गई इसके अलावा तत्ववादी को और किसी दूसरे तरीके से आप ध्वनि ध्वनिमय नहीं बना सकते हैं तो ध्वनिमय किस तरीके से बनाते हैं वो एक विभाजन का तरीका हो गया उसके बाद में जो स्ट्रिंग्स हैं जिसको आप ध्वनि में बना रहे हो वो उसके साथ आपका क्या संबंध है तो गज के वे वाद्य कि जो पर्दे के सहित हैं और बिना पर्दे के हैं ये उन दो का विभाजन हो गया इसी तरह जो नक्की से बजने वाले हैं वो कौन से जिसमें पर्दे हैं और पर्दे नहीं, नहीं हैं और तीसरे जो काली उंगली से ही संचालित होते हैं वो भी आघात से ही होते हैं लेकिन वो ओपन स्ट्रिंग्स के होते हैं जो तार है वही तार जो ईश्वर को मिला <coughs> उस ईश्वर के को दिया जाएगा ये ये तीन प्रमुख विभाजों के फिर उसके अंतरंग विभाजन हो जाएंगे फिर उसके आगे और आप जाना चाहो तो फिर और तरीके से और उसको विभाजन कर सकते हैं कि इसका आकार प्रकार किसका है ये मटेरियल कौन सा है गज का वाद्य है बिना पर्दे का है लेकिन सारंगी की शक्ल का है रावण हत्या की शक्ल का है शिकारी की शक्ल का है इसका फिर आप अलग अलग विभाजन कर सकते हो उससे फर्दर और जाना चाहें तो संगीत की किस किस तरह की क्रियाओं को किया जा सकता है उन क्रियाओं के आधार के ऊपर और आगे विभाजन कर सकते हैं तो ये तत्ववादियों के विभाजन का ऐसा है कि विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ती मुख्य रूप से पड़ती है जब उस वाद्यों का जब एक समूह रूप में अध्ययन करते हैं तब हमको विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य स्वभावगत रूप से किसी भी चीज़ को देखता है तो उसकी कैटेगरीज बनाता है तो कैटेगरीज में बनाना ये मनुष्य का अत्यंत प्राकृतिक स्वरूप है पेड़ पौधों को देखेगा तो वो कहेगा ये पेड़ है ये पौधा है ये झाड़ी है ये बेल है ये कैटेगरीज हो जाएंगी इस कमरे के अंदर देखेंगे तो फर्नीचर है तो जनरल टर्म हो गया फिर पलंग है फिर कुर्सी है फिर सोफा सेट है ये उसके विभाजन की तरह से बनते तो मनुष्य का दिमाग शुरू से ही वो किसी भी चीज़ को बिना विभाजित किए हुए नहीं समझ सकता तो पहला बात तो ये ये स्थिति होती है फिर विष्णु ने अलग अलग तरीके से विभाजन किए वाद्यों के चीन ने किया मेटीरियल के बीच किस मिट्टी से बेम्बू से बना हुआ है वुड से बना हुआ है <clears throat> मेटल से बना हुआ है तो वो विभाजन किया तो वो चाहे मंजीरा भी हो और तत्ववादी भी हो तो वो बेसिस के बाद तो फिर कच्छाक्ष गालपिन इन लोगों ने दरअसल जब वाद्यों को म्यूजियम में रखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब ये आवश्यक होगा कि वाद्यों को रखो कैसे उनकी अपनी कैटेगरीज बनाओ और वो कैटेगरीज फिर बहुत ही विस्तार से बनती हुई चली गई तो जैसे अभी जो तो मैंने जो आपको आर्टिकल जनवरी का पढ़ने को दिया उसमें आपको पता होगा कि कितने विभेद कोई भी एक दूसरे वाद्य से हर प्रकार से किस प्रकार से भिन्न और छोटी सी भिन्नता की वजह से उसको अलग एक नंबर दिया गया तो इस तरह की परिस्थिति म्यूजियोलॉजी के लेवल के ऊपर इसका आवश्यक रूप से हो जाता है तो दस वाद्यों का मूल रूप से अपने पास जो राजस्थान में वाद्य हैं उस वाद्यों को इस सूत्र के अंदर विभाजित किया जा सकता है फिर विभाजित यूँ भी कर सकते हैं सामाजिक रूप से कौन बजाने वाले हैं कि पेशेवर लोग उसको बजाने वाले हैं पेशेवर लोग नहीं हैं और वो उसको बजा रहे हैं तो उनके हाथ में कौन से वाद्य हैं इनके हाथ में कौन से वाद्य हैं ये वा, वादकों के आधार के ऊपर हो जाएगा फिर ट्रेडिशन के आधार पे होता है फिर कितनी तरीके से फिर उसको आप इसी विभाजन को भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं लेकिन जो एक विभाजन करें उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि उसके अंदर तत्व एक हो हाँ कि वो तो चूँकि संगीत की दृष्टि से हम इसको देखना चाहते हैं तो उसके एकॉस्टिकली एक्टिवेट किस तरीके से वाद्य को किया जाता है और अलग अलग अलग तरह से किया जाता तो मूल विभाजन उस जगह से प्रारंभ होगा उसके बाद में हम अलग अलग प्रकार से उसको और वो उसी के सब कैटेगरीज होती हुई चली जाएगी इस अच्छा अक्सर ये देखा गया कि जितने भी राजस्थान में लोग तंतुवादी हैं इनका उपयोग जो है वो संगति के रूप में ही ज़्यादा नजर आता है एकलवादन उनकी परंपरा हालांकि रही है लेकिन अधिकतर जो उसका उपयोग पाया गया वो संगीत के रूप में ही है तो क्या ऐसा इनका विकास गायन के पश्चात हुआ है या गायन से अलग इनका आ, कोई महत्व है या ऐसा भी कह सकते हैं कंठ से वाद्य विकसित हुए हैं या वाद्य ने वाद्य से बहुत कुछ कंठ ने ग्रहण किया है इसमें पहले बात का कोई प्रश्न नहीं है इसलिए ये संगीत में ये प्रश्न बहुत आवश्यक रूप से आता है कि कि जितने भी तत्ववादी हैं उसका प्रयोग वादन के अतिरिक्त हमको गायन के साथ उसके कंठ की संगति के साथ के अंदर उसके अस्तित्व तो नहीं बनता लेकिन क्या हमको ऐसे वाद्य ऐतिहासिक रूप से मिलते हैं क्या कि जिसके साथ में कंठ संगीत की उपस्थिति ही ना हो ऐसा कोई वाद्य है क्या तो इसमें हमको जो सुशील है वो मिलता है उसके साथ में गायन की कोई विशेषता नहीं गायन के उपयोग में आप ले सकते हैं लेकिन जिसमें गायन का कोई उपयोग ही नहीं है ऐसे अनेक सुशील वाद्य हैं जिनके साथ में गाया जाता है और उनको जो वादन की प्रक्रिया वो वादन की प्रक्रिया भी किसी भी प्रकार से कंठ के धर्म में है ही नहीं उन उदयवादियों के नाम को मिलता है अब इसका जो उदाहरण के रूप के अंदर कोई चीज़ मिलती है ये जो सतारा है या पावा जोड़ी जो है ये वाद्य दरअसल ये और मंगनिया रात की तारीख में बजा रहे हैं ये वाद्य इनका नहीं है यह वाद्य तो जो भेड़ पालक हैं उनका वाद्य है और वो इस वाद्य को बजाते हैं तो एलिटरेशन का जहाँ तक सवाल है वो बहुत ज़बरदस्त बजा रहे हैं राग का नाम भी लेते हैं अच्छा। सोरठ बजा रहे हैं कल्याण बजा रहे हैं भैरवी बजा रहे हैं ये नाम भी लेते हैं लेकिन वो भैरवी की धुन नहीं बजा सकते भैरवी के पलटे अलंकार बजा सकते उनसे कहो भाई इतना अच्छा बजाता है आप सुन के कहोगे भाई तो ये तो जो धुन कहोगे तो संगत कर लेगा हम्म। लेकिन वो कोई गीत बजा ही नहीं सकता अब सवाल है कि ये ऐसा कैसे बजा रहा यानी how that he even does not recognize के और रागों के नाम भी ले रहा क्योंकि पावा जोड़ी के अंदर जो जो छेद बंद करते चले जाएंगे और छेद को खोलते चले जाएंगे तो उसके अंदर स्केच बदलती हुई मिलेगी तो वो स्केच बदल रहे हैं इसलिए राग उनके साथ है लेकिन उसके अंदर सिर्फ पलटे पलटे बचेंगे लेकिन जब हम पलटों की बात करते हैं अलंकारों को बदलने की बात करते हैं तो वो गे तो नहीं है हम्म। गाए जा सकते हैं लेकिन गे नहीं है हम्म। वो नोट्स के क्रम है स्वरों के विभिन्न प्रकार के क्रम है जो किसी लय के आधार के ऊपर अपना तो ये तो पूरा वही बजाते हैं हम्म। अब सवाल ये कि ये सुर के कॉम्बिनेशन अपनी उंगलियों से बजा रहे हैं क्या करें इनकी उंगलियां जो उठ रही हैं तो वो धुन की के धुन क्या मतलब वो अलंकारों के हिसाब से उठ रही है या तो इसको बहुत क्लोजली समझने के लेवल पर पता है कि वो सुरों से नहीं बजा रहे वो वो उंगलियों के पैटर्न क्या है तो ये उंगली ये उंगली साथ उठनी चाहिए ये उंगली ये उंगली साथ उठनी चाहिए ये बंद होनी चाहिए उन्हें इस तरह के छह कॉम्बिनेशन उनके पास हैं और वो मैकेनिकली उंगलियों के कॉम्बिनेशन से बजाते हैं वो हमारे लिए पलटे है हम तो उनको पलटा कहते हैं लेकिन वो उसको नहीं जानते तो अब हमको ये लगता है कि ये वाद्य निश्चित रूप से इस प्रकार का वाद्य है कि जिसके साथ गायन वाला कोई मामला नहीं है मेलोडी वाला कोई मामला इसके साथ में नहीं है इसी तरह से विश्व के दूसरे वाद्य को देखते तो हमको कुछ वाद्य इस प्रकार के मिलते हैं कि जिनका प्रयोग भी ये तो संगीतात्मक ध्वनि है उसको उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए संगीत के सुर की एक परिस्थिति है लेकिन नॉर्वे में एक फ्लूट है कि जिसके अंदर फूक भी आप जैसे बोतल में देते हैं उस तरह से दे रहे हैं और एक आखिर के अंदर एक छेद है फ्लूट के एंड के अंदर के बजाता उसके अंदर तीन सुर वो ले सकते हैं और तीन सुरों के कॉम्पिटिशन से लेकिन वो वादी किस काम आता है कि जब खेती के लिए आदमी अकेला बैठा होता है तो वहाँ पे वो करता रहता है उसके लिए है या बर्ड्स को भगाने के लिए उपयोग तो उसका प्रयोजन संगीत का प्रयोजन नहीं है जिसको हम लय या सुरेंगे तो वाद्य की दृष्टि से हमको इस किस्म का वाद्य हमको कोई नहीं मिलता है कि जिसका संबंध गायन के साथ ना हो और गायन के साथ संबंध होने का भी जो मूल परिस्थिति है वो मूल परिस्थिति है कि आपका सुरस्थान क्या हो क्योंकि ये तुलनात्मक है मैं साहब किस जगह अपना स्थापित करता हूँ उसके हिसाब से अगले स्वर स्थापित अगले स्वरूप से निकले उसके नीचे के स्वरूप के द्वारा होंगे तो ये एक स्थिर हम्म, स्वर को प्रदान करने वाला एक प्रमुख वाद्य है और मुख्यतः ये वाद्य जहाँ इस रूप में उनको हम्म, स्वर्ग देने के रूप में ही हमको प्राप्त होगा तब हम ये देखेंगे कि उस वाद्य पर बहुत लंबे काल तक गाने की प्रक्रिया है रावण आता है हम्म। तो पूरी रात तो आपको बनेगा कामरिया है तो वो जो गा रहे हैं तो पूरी रात की रात गा रहे हैं हम्म। और अगर पूरी रात आपको चीज गानी है और आपके कोई आधार स्वर आपके साथ अगर नहीं है तो आप गा नहीं, सकते आप गा नहीं सकते क्योंकि कंठ को स्थिर एक स्वर पर रहना संभव नहीं है और गाने के लिए आवश्यक भी है। गाने गा, गाना उसके बिना आप गा ही नहीं सकते, तब क्या है कि स्टैंडर्ड गायन का भी जो स्थिरीकरण है स्थिरीकरण है वो स्तरीकरण स्टैंडर्डाइजेशन भी वाद्य ही करता है दादा लोक संगीत में विशेष रूप से अपनी वादन कला में जब वाद्यों की बात करते हैं तो इसमें तालीम और रियाज के बारे में आप क्या अनुभव करते हैं क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय तक इन कलाकारों के साथ काम हाँ। किया है ऐसा है कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इनके बच्चे पेशेवर गायकों के बच्चे वादकों के बच्चे जो हैं वो वाद्य सीखते तो हैं लेकिन उनको सिखाता कोई नहीं सिखाने के जो बात है वो ऐसे एक आमने सामने बैठ के आमने सामने सीना पर सीना नहीं है ये जब बच्चे को जब गर्ज भी जैसे पकड़ना सिखाएंगे तो बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है अच्छा। जैसे आप मोटर चलाना सिखाते हो तो ऐसा नहीं कि सामने बैठ के कोई सीखा आप और वो साथ ही साथ बैठे पहले स्टेयरिंग बताएंगे फिर क्लच को आप करेंगे तो वो वो तरीका होता आमने सामने बैठ के कि आओ भाई बैठो इस वक्त आओ हमारे साथ बजाओ ऐसा कुछ नहीं होता अपने आप वो बजाना शुरू करता है और जो जगह होती है तो उसको बैठते हुए गलत बैठा हुआ हो तो बता देंगे ठीक से बैठ जाओ इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं रखा हो तो सही कर देंगे और बाकी वो देखता है खुद कि कौन कैसा करा तो, तो अनुकृति के रूप के अंदर वो उसको रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ से वो खुद उसको अडॉप्ट करता है और उसका बाद में शुरू कर देता है बाद में फिर उसके बाद में जब उसको गज चलाना आ जाता है गज इनकी पहली चीज़ है गज चलाना आ गया इसका मतलब वो मानते हैं कि इसको वादी बना गया गज चलाना जब आ जाता है तब उसके बाद में फिर फिंगर्स के लेवल के बताएंगे कि भाई ये उंगली हाथ होगी बीच वाली हम्म। ये उंगली कहाँ होगी और कब उठ जाएगी ये इसको इतना सा बता देंगे तो उसके बाद में बताने के जरूरत नहीं फिर साथ में गाओ बजाओ और वो अपने आप से तो यहाँ पे तालीम जैसी चीज़ नहीं है तालीम का होते मतलब हुए आपने उसको बिठाया और आपने उसको अल्फ़ाबेट एक विशेष सिखाए और उसको आपने गणित की अंक जो आपने उसको सिखाए हम्म। और उसको फिर आपने अलग बच्चा है खुद अपनी भाषा बोल रहा है तो वो तो पढ़ने जब बैठता है तो उसके पहले भाषा तो पूरी बोलता है हम्म। और व्याकरण सम्मत बिल्कुल सही व्याकरण में बोलता है लेकिन लिखना नहीं जानता पढ़ना नहीं जानता तो लिखने पढ़ने के अंदर जब हम क ख ये उसको बताते हैं जब वो अक्षर पढ़ना शुरू होता है तो पढ़ेगा न ल नल क ल कल वो एक साथ कल नहीं पढ़ सकता हम्म, अलग अलग वो अलग अलग पढ़ेगा तीसरे अक्षर का सिखाएंगे को ल कोमल इस तरह से पढ़ेगा इसको जब विपरीत करके देखें तब हमको ये समझ में आता है जो भाषा आप जानते हो उसी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को आपको अलग अलग करके पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे का कैसे पढ़ेंगे की कैसे पढ़ेंगे का का, का की की कु उसको अलग अलग ये तालीम की पद्धति हुई इस किस्म की पद्धति इस किस्म के गायकों के बीच में न कंठ संगीत में है न वादन की प्रक्रिया में और रियाज के बारे में रियाज का समझ हर एक की अलग अलग है लेकिन रियाज का एक जो प्रमुख ध्येय है कि आप अभ्यास अपने आप को संगीत संगीत की उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए आप करेंगे लेकिन उसके प्रस्तुति के लिए आप जो अपने घर पर बैठ के अभ्यास करेंगे वो एक्सरसाइजेस भिन्न होंगे जो आप परफॉर्मेंस में करने वाले हैं उससे भिन्न भी तो मान आप कुश्ती लड़ रहे हैं या आप टेनिस खेल रहे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो नेट प्रैक्टिस जो करते हैं वो क्रिकेट खेलना तय तो नहीं है हाँ वो अलग किस्म की चीज़ है एक बॉल को फेंक रहा है एक हिट कर रहा है कैसे कर सकता है वैसे चौका छक्का तो वहाँ लगा लगाने की कोशिश नहीं करता वहाँ चौका छक्का लगाने की कोशिश करता है अभ्यास नहीं करता बॉल को रोकेगा कैसे क्या करेगा बॉल कैसे करेगा वो तो इसी तरह तो बॉक्सिंग है तो अभ्यास करेंगे तो दंड बैठक करेंगे दौड़ेंगे सांस को सांस की तैयारी करेंगे शरीर की तैयारी पुष्ट खाएंगे उस किस्म का खाना खाएंगे उस किस्म से रहने की कोशिश करेंगे ताकि वो मैदान का तो जो रियाज कहते हैं वो रियाज ही है इनके पास रियाज की कोई परंपरा नहीं किसी भी प्रकार की नहीं जो अनुन्नतवाद्य हैं ये रियाज की समस्या भी आए तो कुछ ही वाद्य हैं लोकवाद्य में तो जिसके अंदर रियाज की प्रक्रिया का विशिष्ट महत्व है आ, वो कामायचा और सारंगी और सारंगी करके के जो उन्नत थोड़े से वाद्य हैं उसके अंदर उनकी अब उस किस्म के अभ्यास की आवश्यकता होती है और अगर है भी सही तो दूसरे वाद्यों के अंदर अभ्यास की उस किस्म की आवश्यकता नहीं है उतनी नहीं सब क्या है कि सभी वाद्य क्या अभ्यास के की कामना करते हैं मोरचंग बजा रहे हैं तो उसमें अभ्यास क्या करेंगे आप घोड़े बजाय तो अभ्यास का करते लेकिन ढोलक आएगा तो हाँ इसमें अभ्यास की जरूरत हो सकती है तो वो किस तरह की आवश्यकता होगी तो कौन से वाद्य हैं कि कि जो अभ्यास की स्थिति को मानते हैं तब उसमें किसी न किसी प्रकार से निरंतर बजाय आपस में बैठे बजाय बजाए किए वो परिस्थिति इनके पास निश्चित होती है लेकिन वो बहुत तो अवस्था वो जब पूरा करीब बजाने लग जाते हैं तो उस वक्त ये स्थिति उनकी बनती है लेकिन उसके अंदर भी अभ्यास करने के लिए उनके पास अलग कोई एक्सरसाइजेज हो ऐसी एक्सरसाइज इनके पास नहीं है दादा आपने इन कलाकारों की लगभग तीन चार पीढ़ियों के साथ काम किया है उनको बहुत करीब से भी देखा है क्या आपको लगता है कि इनकी वादन तकनीक में या जो कुछ बजाया जा रहा है उस समय में और अभी इस समय में उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है अब परिवर्तन तो हुआ तो कोई भी चीज़ स्थिर तो रहती नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है पहले इनको जहाँ जिस तरह से जिन चीज़ों को बजाना पड़ता था वो एक परिस्थितियाँ थी लेकिन जैसे उन परिस्थितियों में जो सुनते हैं जो आप कोई नहीं कर सकते जो कांकरी का खेल करते थे जो सारंगी और कमाइचे के साथ होता था अच्छा तो उसमें चार तो मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर कौन है उसके चार वो कौन हो गए तो चार चार आठ एक ऊपर और एक नीचे दस तो दस रागे होती थी वो वाद्य पे बसती थी गाते नहीं थे उसके साथ अच्छा। तो शादी ब्याह जब होता था तब उसके अंदर जो लड़की वाले की तरफ का जो वादक होता था वो और सामने लड़के वाले दुगाने वाले थे जो बारात में आते थे वो बैठ जाते थे जो लड़के वाले घर में थे वो उसको भी बात गायक को बता देता था कि भाई मैं इनको ढूंढना है कांकरी खोलनी है कि मेरे कमरे के इस कोने इस कोने के अंदर एक शराब की बोतल पड़ी है या एक किताब पड़ी है या कपड़ा पड़ा तो वो गायक जानता है या जिसने उसको कहा वो जानते हैं और और कोई नहीं जानता है वो बजाना शुरू करेगा तो जो सुनने वाले होंगे उनमें से क्या बारात के अंदर खास तौर से लाते थे जो कांकरी खोलना जाने तो ग्राहकों को समझे हम्म। तो मान लीजिए सोल्ट बजे तो वो सोल्ट को मान लीजिए उत्तर की तरफ जाना है तो वो कहेगा मैं यहाँ से वहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया हम्म। जहाँ बैठा वहाँ से उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो सही दिशा की तरफ आ रहा तब तो ठीक है फिर नहीं तो राग बदल के फिर वहाँ से वहाँ तक उत्तर तक गया फिर वहाँ से पश्चिम की तरफ आया उत्तर क्योंकि मैं अब यहाँ आया अब मैं आया आया करके और जब वो रागों को बजाते बजाते इस तरह से उसको चला के आठ रागे ऊपर और नीचे है ऐसे करते करते जब वो बिल्कुल उस जगह पहुँच जाता है तब गाना शुरू करता है और गाने के साथ में इस किस्म का उल्लेख होगा कि अलमारी है या कुछ इस तरह की चीज़ है उसके अंदर पीने से नशा आ जाता है या जाता है तो उसका रंग ये फिर उस गानों की वजह से उसको बताना पड़ता तो एक कांकरे का खेल जो मैंने अटेंड किया जो जो मैंने खुद अपना बहुत सालों पहले की बात है उसके अंदर ये था कि एक खिजड़ी का पेड़ था तो वो आधा टूट गया था आंधी से तो ऊपर खिजड़ी का ठूट तो खड़ा था उसके अंदर एक खोखाड़ हो गई उसमें पानी भरा हुआ था तो किसी ने ये कह दिया हम्म। कि ये कांकरी कुर्नी तो अब ये कोई सोच नहीं सकता ऐसी कोई चीज को तो उन्होंने कहा कि तुमको पानी की बात करता है तो उन वो पानी न धरती में है न आकाश में है है पानी अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते so now this type of playing definitely involve some very very sophisticated instrumental playing क्या आप वो आप इस तरह से जल्दी बजाओगे तो क्या मतलब है मध्यम मजले में बजाओगे तो क्या है विलंबित में क्या है फला क्या है फला क्या है फिर एक राग से दूसरे राग में चेंज करने के लिए आप क्या चीज़ बजाओगे जिससे कि आप उसको गाइड कर सको प्रॉपरली तो कांकरी का खेल तो पहले होता था अब तो खिलाने वाले भी नहीं रहे और समझने वाले भी शेष नहीं रहे तो जब इस किस्म की चीज़ें होती तो इस किस्म की गूट संगीतात्मक गूट चीज़ें भी इनके अंदर पैदा होना शुरू तो ये निश्चित रूप से उसका आधार बना रहता है तो इनकी परंपरा की बात जब इनके संगीत की बात करते हैं तो जिस तरह से शास्त्रीय संगीत में जो प्रदर्शन में वादी स्वर संवादी स्वर या पकड़ या उसके समय की जो बातें जो तत्व हैं इनका बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है क्या लोक संगीत में भी इन बातों का निर्धारण किए जाने की संभावना है क्या समाज सभी चीजें हैं अब जो क्या है कि ये प्रसंग का प्रश्न है शास्त्रीय संगीत में भी एक आप बैठक में बजा रहे हैं और आप एक हज़ार आदमी के हॉल में बजा रहे हैं और एक आप दस हज़ार के हॉल में बजा रहे हैं तो क्या सब जगह एक है एक ही वादन है क्या हम्म, अलग निश्चित रूप से अलग होगा तो इनके पास भी जो इस किस्म के प्रसंग आएंगे प्रसंग के अनुरूप उन चीज़ों को होना पड़ेगा यहाँ पे क्या है कि जब संगीत का प्रश्न आता है तो, तो जैसे ये समस्या दूसरी जगह आती है जैसे औरतें गीत गाती हैं शादी ब्याह में गीत गाती हैं हाँ, बच्चे का जन्म होता है ये अपने पारिवारिक रूप से गीत गाती है अब इसके अंदर आश्चर्य की बात यह है कि जब भी गीत गा रही तो चार छह औरतें बैठ के एक तरफ गा रही होती उसके सुनने वाला कोई नहीं होता हाँ सारी शामिल नहीं सारे शामिल नहीं बाकी अपना काम कर रही है कोई बच्चे को रख रही है कोई थाली पुरुष रही है कोई झाड़ू लगा रही है कोई गप्पे लगा रही है और चार औरतें बैठ के गा रही हैं उसमें से मर्जी है एक उठ के चली गई दो दूसरी आके बैठ गई लेकिन वो जो गीत जो गा रही है उसको सुनने वाला कोई नहीं ना हम्म। हाँ, जिस का कोई ऑडियंस नहीं होगा वो संगीत कैसा होगा हम देखते हैं कि ये छब्बीस जनवरी की परेड निकलती है ये पुलिस का बैंड बजता हो जाता है मिलिट्री का बैंड बजता हुआ जाता है शादी ब्याह के बैंड बजते हुए जाते हैं तो तो चलते जा रहे हैं तो आप अभी सुन रहे हैं और दो तीन मिनट आपने सुना उसको आगे चले गए वो निकल गए वो तो वो बैठ के क्या भैरवी जैसे रविशंकर जी बजाय वैसे भैरवी बजाएंगे क्या निश्चित रूप से नहीं तो उनके संगीत को कोई ढंग अलग होगा तभी ऐसा काम कर सकते हैं बाकी कैसे करेंगे वो काम और क्या बैठक के अंदर वो बजा सकते हैं इस तरह का the music with no audience what does it mean that no performer would ever try to do something to please somebody. अगर कुछ उसमें आप विशेष करने की कोशिश कर रहे हो तो जो चार औरतें गाती हैं वो मना कर देंगी कि ये क्या कर रही है हम चुका नहीं सकते ऐसे so now this music denies excellence आप एक्सीलेंट कुछ भी करते हो तो आप अलग हो अलग हो जाओगे अलग हो जाओगे तू जाए अलग गा लेना तो, तो यहाँ पे रिजेक्ट है ट्राइबल म्यूजिक के अंदर आप जो सब कर सकते हैं उसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ये भी रिजेक्टेड फ्रॉम ग्रुप आपको मान्यता नहीं होगी क्योंकि आप क्या कर रहे हो you are doing something very good but very good is not accepted there because none is able to do that इसका मतलब है कि क्या एक्सीलेंस आने के लिए आपके सामने ऑडियंस का होना आवश्यक ऑडियंस आपके सामने नहीं है संभावना नहीं तो संभावना नहीं तो पेशेवर गायकों की गायकी के अंदर भी दो किस्म की चीजें एक वो चीजें हैं कि जिस वक्त इनकी कोई ऑडियंस नहीं होती घोड़े पे बींद बैठा है उसको घोड़े को तो तिलक लगा रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ उसको कोई दाना खिला रहा है माँ ये कर रही है सासू ये कर रही है फला ये कर रही फला ये कर रही उनसे घोड़ी का गीत गाया जाना चाहे औरत गाओ या पेशेवर गायक गाओ उसको कौन बैठ के घोड़ी का गीत सुनता भाई तो ऐसे गीत इनके पास हैं इनके पास वो गीत भी हैं कि जो जिस पर कोई ऑडियंस नहीं होती है और वो गीत भी है जिसको ये कहेंगे कचहरी में बैठ के गाते हैं रिहान में कमें गाते हैं उस वक्त उनके सामने ऑडियंस होती है और वो क्रिटिकल ऑडियंस होती है हम्म। जो उनके म्यूजिक को समझती है और उनको उस ऑडियंस को प्रभावित करना होता है तो संप्रेषण की परिस्थिति जहां पर है उस संप्रेषण की परिस्थिति के अंदर में इनकी अपने रिक्वायरमेंट है अब क्लासिकल म्यूजिक या आप कंसर्ट में जाओ तो क्या क्या आप किसी बड़े से बड़े आदमी को समझो आपको वाद्य वादन के अंदर है अलाप जो आज से 20-30 साल पहले आदमी आराम से आधे घंटे पौन घंटे करता था हम्म। अब अगला पांच सात मिनट से आगे बजाएंगे तो वादक भी जानता है सुनने वाला ऊँग जाएगा हम्म। तो क्या करेगा अलाप का काम भी करेगा तो, तो उसके साथ भी बहुत ही विलंबित है कि कोई ठेका लेगा हम्म। ताकि नींद नहीं आए ताल का भी हो और वो आलाप का काम भी कर ले फिर उसमें आलाप करेगा तो उसमें थोड़ी तुम तुम तुम तुम ज़्यादा हो जाएगी फिर गत जो है तो मध्य हाँ जो जोर ज़्यादा हो जाए हो जाएगा जो फिर वापस जाले की तरह से बाद में आएगा फिर बाद में गत जो है वो विलंबित लय की कोई गत बजाएगा नहीं है मध्य लय की या मध्य लय से भी दुरुस्त नहीं होगी तो भी मध्य से अधिक होगी वो बजेगी ताली बजेगी तो तबले पे तबले के और इनकी जो खुशी होगी उस पर ताली बजेगी आपने संगीत में किया किया उसके ऊपर ताली नहीं बजेगी तो वो पचास कोशिश करेंगे कि वो कौन सा काम हो जिस पर ताली बज जाए तो क्लासिकल म्यूजिक के सामने भी ये समस्याएं हैं ये ठीक ऐसी कैसी समस्या इन लोगों के सामने भी है ये इसको अपने तरीके से मीट आउट करनी करते हैं वो अपनी तरीके से करते हैं पहले ख्याल गाते थे बैठ के अच्छे से जम के ख्याल गाते थे उसके बाद के अंदर छोटा ख्याल गाते थे अब ख्याल की चीज़ गाएंगे बजाएंगे उसके बाद में ठुमरी कर लेंगे अच्छा। या या वही भजन लेंगे तो अब ये संगीत के परिवर्तन ऑडियंस के लेवल के ऊपर कि तो जो जो आपके पास साउंड को मैग्नीफाई करने के तरीके आपके पास आ गए और आप एक साथ हज़ार ऑडियंस दस हज़ार के लिए गा बजा सकते हो तो दस हज़ार ऑडियंस की क्या ज़रूरत है उस ऑडियंस के अनुसार आपको गाना बजाना पड़ेगा जब आपके पास मैग्नीफाइंग के इतने सिस्टम्स नहीं थे तब आप उस किस्म का काम करते थे तो वो परिस्थितियाँ इन लोगों के साथ में भी हैं और उसके साथ में अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं सभी के तरह की चीज़ें पैदा होती है तो कौन सा सभी शास्त्रीय संगीत के परफॉर्मेंस सेक्टर में जो हो रहा होता है सब कौन खुश हैं बिल्कुल ठीक